यही लोग जिन्हें वो पुकारते हैं वो खुद अपने रब की तरफ वसीला कुर्बत का ज़रिया तलाश करते हैं कि कौन उनमें से ज़्यादा करीब है और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और वो उसके अजाब से डरते हैं यकीनन आपके रब का अजाब वो है जिसे हमेशा से ही डरा जाता है